प्रत्यार धारणा ध्यान वह ध्यान में प्रत्यांतरों से अंतरित न हो खिलीकृत न हो यानी कि दस मिनट ज्ञान हो गया फिर पीछे बदल गया थोड़ी देर तक ले धारणा में आगे फिर ध्यान फिर धारणा फिर ये भी नहीं ध्यान मैंने ध्यान ही और दूसरा नहीं आनी चाहिए यानी कि सांसारिक वृत्ति नहीं आया पहले धारणा में तो आए हम तो नहीं, धारणा में भी लौट रहे बैक गेयर और फ्रंट गेयर नहीं चाहिए शंटिंग का काम नहीं चलना चाहिए ये रेलवे शंटिंग का काम नहीं होना चाहिए वो वास्तविक ध्यान इसे कहते हैं प्रत्यांतरों के द्वारा खिलीकृत होनी चाहिए ऐसा जो निर्वाध दीप शिखा के समान हो जाए उसी को यहाँ मंत्र में अभिध्यायित शब्द के द्वारा प्रश्न कर का आशय है अरे बात की जा रही है मध्यम अधिकारी का ये भी ध्यान रखना तो अपने आप को कहा रखोगे सोच लेना या तो उत्तम अधिकारी अपने आप को मान लो सीधा मैं ब्राह्मण ब्रह्मास्मि हो गया काम खत्म है ना या तो अपने आप को सर्वोत्तम अधिकारी कोटि में रख लो तो झंझट खत्म है और बाकी कोटि में रखने की चेष्टा करोगे तो लगेगा हम तो कहीं भी नहीं जीरो पे जीरो से भी नीचे होगा माइनस पे नहीं तो इसलिए इनका कहना है कि वे सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा परिग्रह त्याग संन्यास शौच संतोष अमायव आदि अनेक यम नियमागृहित एवं यावज्जीव्रत धारण इसलिए अद्भुत इसलिए आश्चर्य कश्चित पश्चित कश्चित एनम वाली बात है आश्चर्य उसका वक्ता भी आश्चर्य है उसका श्रोता भी आश्चर्य उसका लब्धा भी आश्चर्य रूप हो जाता है क्योंकि इतना कठिन काम है उस स्विषय असंप्रयोग प्रयोग चित्त से स्वरूपानुकार प्रत्याहार का लक्षण किया ना उसने योग सूत्रकार ने नाम प्रत्याहार देश चित्तों से धारणा प्रत्येकता ध्यानम और या यम नियम को ले रहे उससे पहले की अपेक्षित अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह नियम यमा और शौच संतोष देश और निधारानी नियमानी ये जो चीजें हैं उनको कह रहे कि देखो सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह हाँ, त्याग संन्यास शौच त्याग करने से बाह्य विषय त्याग सामान्य संन्यास करने से सर्वकर्म त्याग पूर्णतया ये अंतर त्याग और संन्यास में अंतर करनी पड़ेगी यही गीता में भी आया त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ किया कामनम करुणाम त्याग न्यास और संन्यास भगवान ने कहा ना वहां पे त्याग और संन्यास का अंतर किया है शौच संतोष अमायादित्व आदि कह दी क्योंकि पांच पांच गिनाया है जब भी पतंजल सूत्रकार ने लेकिन योगी केवल संहिता में दस दस गिनाया यम भी दस नियम भी दस दस दस गिनाया मनुस्मृतिकार ने भी शील का गणना में भी दस दस गिनाया है यम नियमों को इसलिए कभी आदि विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से इन चीजों को ग्रहण कर लेना चाहिए अनेक जो यम और नियम से अनुग्रहित जो पुरुष स पुरुष एवं यावज्जवरदारण वह पुरुष एवं अविध्यायित धारण इस प्रकार से ध्यान करता हुआ यावत जीवन ध्यान व्रत को ही धारण किया हुआ है ऐसा जो पुरुष है कथम बाबा अनेक ही ज्ञान करो विरजित व्यालोक हतस्तंती तेषो क्योंकि भाई ज्ञान मैंने उपासना और कर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाले जीतने योग्य लोग तो एक दो तो नहीं अनेक है अनेक ही ज्ञान करो विरजित व्यालोक हतस्तंती ज्ञान और कर्म मैंने उपासना क्रम के द्वारा जीतने योग्य लोग एक दो तो नहीं अनेक है उनमें से देशो तीन ओंकार विध्यान तादृश मुमुक्ष या साधक के द्वारा किए वाले ओंकार विध्यान के द्वारा कतमम सलोकम चेती वह कौन से लोगों को प्राप्त करता है किस लोगों को जीत लेता है यदि पृष्ठ होते तस्मय सब पलाद वाचा उनके लिए तारस सत्यकाम के लिए शैव्य सत्यकाम के लिए पिपलाद महर्षि जवाब देते हैं एक सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म युद्धोंकार तस्मादित्वाने तेन वायतन एक ब्रह्म कहते भाई वो जीवी भर तो कर रहा है ओम का तुम्हारे कहने अनुसार मैं मान लेता हूँ वो ओमकार का ध्यान कर रहा है तुमने कहा और यह जीवन कर रहा है ठीक है लेकिन हमें ये जानकारी लेना है वो ओम में कौन सी मात्रा को प्रधान करके ध्यान कर क्योंकि ओंकार जो है ना पर ब्रह्म को ही प्राप्त कराने वाला है अपर ब्रह्म को ही प्राप्त करने वाला है दोनों को ही करने वाला है क्योंकि ओम में दोनों ही छिपा हुआ है जब ओम निर्गुण का स्वरूप है तो सगुण स्वरूप भी निर्गुण स्वरूप भी अधिष्ठान में अधिष्ठित होने के कारण से वह अभी ओम स्वरूप के अंतर्गत सब कुछ है इसलिए कहते हैं एक हे सत्य काम एक युक्त ओंकार स परंच अपरंच ब्रह्म यह जो तेरे द्वारा कहा ओंकार है वो ओंकार क्या है पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है तस्मात इसलिए विद्वान जो है एते नहीं वायते ना इसी आलम्बन को लेकर के इसी जो प्रतीक को लेकर के एकत्र थी चाह तो पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा अथवा अपर एक धर्म एक धर्म ने या तो इसको या तो उसको किसी किसी को प्राप्त करेगा अरे किस्सा कैसे हो जाएगा कहते हाँ या यही विलक्षण होता है साधन एक है फल अनेक है यहाँ ऐसा साधन को किस प्रकार से निभाओगे उसके ऊपर निर्भर है ना आटा चीनी आपके पास है आटा चीनी मैदा यही तो होता है और हजारों प्रकार की मिठाई बना देते हो कितने प्रकार की मिठाइया बन जाती तब तो वही है सभी में चीनी के अलावा है क्या चीनी मैदा या चीनी बेसन चीनी छेना और कोई चौथी चीज तो है नहीं इन्हीं चीजों में सारी प्रकार की मिठाई बना डालते हो और यहाँ पर भी आटा बेसन छेना जैसे अब वो मतीन अक्षर है और उसमें जो ध्यान रूपी चीनी घोल दिया तो ब्रह्म चाहो मिठाई या पर ब्रह्म नाम की मिठाई जो जैसो बना लो लेकिन यहाँ दो ही चीज मिलेगी लेकिन वो पर ब्रह्म है ना वहाँ तो एक ही है सुपर क्वालिटी मिठाई है वो और अपर ब्रह्म में तो हजारों क्वालिटी मिठाई है अनेकों लोग है अनेक लोग कहा नहीं सके अनेक है उसके अंदर कौन सा चाहते हो बनाओ मर्जी अपनी वही कर ब्रह्म वही परंच परंच ब्रह्म परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम अपरंच प्राग्यम प्रथमजम वही हिरण्य गर्भ जिसके अनंत लोग व्याप्त है और मुख्य रूप में आपने चौदह में गिना देते हो है ना उसके अवान्तर लोगों को कौन देख रहे हैं प्रत्येक लोग के अनेक अवान्तर छोटे मोटे लोग हैं अब उनकी कोई गणना नहीं कर रहा है जैसे एक मकान के अंदर अनेकों मकड़ी का जाल अनेकों घर होते कि नहीं होते नहीं अनेकों मच्छरों के घर भी एक मकान के अंदर आप कहेंगे मेरा मकान एक है आपके लिए क्या है एक घर है लेकिन उसके अंदर सैकड़ों घर बना हुआ है उस एक घर में भी सैकड़ों घर है हर जो है मकड़ी का अपना अलग अलग घर है चूहे का अलग अलग घर है अंदर चिंकियों के पचास घर होंगे वो इधर घर बना रखा है उधर घर बना रखा है एक आपके घर के अंदर ही अनेकों जीवों के अपने अलग अलग घर बना रखे हैं और बिना किराया भाड़े कर आते बना कर हम मना भी नहीं कर सकते वो अपना उनका कर्म है वहां रहेंगे आप कैसे रोकोगे उनको इसी प्रकार यहाँ पर भी एक एक लोक में भी अनेकों अभांतर लोग है जीवों के अपने में कर्मानुसार वो अपने कोई मकड़ी का जाल जैसे बना के बैठा हुआ है उस लोक के अंदर अनेकों है ऐसे अनेक ही लोग उन्होंने कहा नहीं तो चौदह लोग है अनेक कैसे कर रहा दुनिया भर के कहते तो उसके अंदर एक में भी अनेक है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते है इसे अनंत ब्रह्मांड है अनंत लोग है कहा जाता है तो इसलिए कहा इन्होंने परब्रह्म क्या है सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम जो सत्य है और जिसको अक्षर तत्व अक्षर नाम से कहा जाता है पुरुष नाम से कहा जाता है वो परब्रह्म वो भी यही ओंकार के द्वारा गृहित है अपरंच प्राणाख्यम व्रतभजम प्राणाख्य जो हिरण गर्भ नाम से कहा गया था इसी पृष्ठ में पहले प्राण नाम से भी कहा गया था जो वो, वो चूंकि प्रथमज कोई शंका न हो गए इसलिए प्रथमज विशेषण भी दे दिया भाष्यकार ने तत् ओंकार तादृचो अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म जो है वो क्या है ओंकार ही है ओंकारात्मक ओंकार प्रतीक दो बात है ओंकारात्मक भी है और ओंकार उसका प्रतीक भी है यदि परब्रह्म दृष्टिकोण से विचार करोगे तो ओंकारात्मक है ओंकार आलम्बनम एकदालंबनम श्रेष्ठम एकदालंबनम परम कहा गया था पहले आलंबन और प्रतीक में अंदर के भी विचार हो चुका है ना प्रतीक क्या होता है एक उत्कृष्ट वस्तु के लिए एक दूसरे वस्तु जैसे विष्णु भगवान है वो हाथ पैर वाला उसकी मूर्ति बना दिया आपने वो प्रतीक हो गया और आलमन प्रतीक नहीं होता है भले वो बार ओम लिख देते हैं और व्याकरण दृष्टिया बना लिया आपने लेकिन ओम का वास्तव में कोई स्वरूप ही नहीं है वो हवा धातु से बना लिया आपने और उसको ऐसे लिख दिया व्याकरण तो के हिसाब किताब से बन गया आकार वास्तव में वो नाम नामी अभेद रूप से व्यवहार होगा वहां पर इसलिए कहते हैं कि देखो ओंकारात्मक है पर ब्रह्म दृष्टिया और ओंकार प्रतीक है वो अपर ब्रह्म दृष्टिया परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्रम देखो आगे क्यों क्योंकि जो परम ब्रह्म है वो शब्द आदि के द्वारा उपलक्षित करने योग्य वस्तु ही नहीं है ओम के द्वारा कैसे उपलक्षित कर दोगे उसको इसलिए ओम तो वहां ओंकार आत्मक ही ब्रह्म और ब्रह्मात्मक ही ओंकार है दौर अभिन्न वहां ये नहीं प्रतीक नहीं हो शब्द उस शब्द रूपी प्रतीक के द्वारा हम उस ब्रह्म को बोध करा रहे हैं उपलक्षित कर रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं सकता है ब्रह्म के बारे में स्वरूप को किसी बाह्य अक्षर या शब्द या नाद आदि के द्वारा आप लक्षित नहीं कर सकते ये तो केवल साधन है जिनके द्वारा हम पहुंचेंगे तब वही हो जाएंगे जब हो जाओगे तो पता चल जाएगा ओम क्या है तब पता चला रहे ओम का तो हम चालक था ही नहीं साधनत्व हम उसकी भ्रांति कर लेते शुरू में लेकिन अब भ्रांति पूर्ण साधन भी कभी कभी साथी को प्राप्त करा ही देता है या नहीं अब अनुमान जब चल पड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया बहुत सारे दृष्टांत संसार में कैसे सृष्टि शुरू हुई बाइबल वालों से पूछो तो पता चलेगा वहां से कुछ पता नहीं था आदम को भी पता नहीं युव को भी पता नहीं वो आदम और युव कहते हैं है ना दोनों को पता नहीं था सेक्स क्या होता है अब पता नहीं दोनों नंगे थे एक प्यार का पेड़ का नीचे थे प्यार नाम का पेड़ उन्होंने बताया क्या क्या कल्पना करा खैर दोनों में अचानक संबंध हो गया और संतान हो गया संसार चल पड़ी बड़ा आश्चर्य की कहानी नहीं जानते थे और सृष्टि बनाने के लिए हम ये भी नहीं जानते लेकिन हो गया इस प्रकार से सृष्टि का आरंभ से लेकर किसी भी जो है धर्म के ग्रंथ को उठा लोगे और दार्शनिक को उठाओगे सब जगह यही मिलेगा जो साध्य है उसी में साधन की भ्रांति से पहले कार्य शुरू होता है और अंत में हम अपने स्वर्ग जब पहुंचेंगे साध्य कोटे पहुंच जाता पता चलता ये साध्य इसी प्रकार यहाँ पर इसलिए कहते हैं परम ब्रह्म शब्दादिलोक्षण उपलक्षण अनर्म सर्वधर्म विशेष वर्जितम क्यों क्योंकि सर्वधर्म विशेष से वर्जित है जो किसी भी प्रकार से पुरुषत्व स्त्रीत्व तो नहीं नपुंसकत्व तो नहीं कुछ नहीं उसमें नव पुरुष है नव स्त्री है नव नपुंसक है कोई धर्म ही नहीं ढूंढ सकते आप उसके अंदर अतएव उपलक्षित नहीं या तो न शक्यम अतीन्द्र गोचर केवल मनसा अवगाहित इसलिए वह उसको अतीन्द्रिय का विषय होने अतीन्द्रिय विषय होने के नाते उसको केवल मन के द्वारा अवगाहित न शक्यम अवगान कर लेना बोध कर लेना अनुभव करना संभव नहीं है ओंकारे तु विश्वादी प्रतिमा स्थानीय भक्त्यावेश ब्रह्म भावे ध्यान तक प्रसिद्धती यदि लेकिन उसी ओंकार में जिस प्रकार से आप विष्णुवारी की प्रतिमाओं में भक्ति का आवेश से साक्षात भगवान ही मान करके व्यवहार कर लेते हो और उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाता है है या नहीं नामदेव जी की जैसे कहानी में बाप चला गया चार दिन के लिए बाहर का तू भोग लगा दे बेटा रोज भगवान खाते थे वो भोग लगाए तो खावे ही नहीं तो डंडा लिया मारने के लिए क्यों नहीं खाते हो वो आ गए भगवान खाने के लिए क्या कर डंडा खाएंगे क्या मारा अब भक्त के सामने सब कुछ हो जाता है तो भावना जैसी है वैसे तो होगा इसलिए वहां पर जिस विष्णु की प्रतिमा में विष्णु की आपने भावना करी और विष्णु जैसे व्यवहार भी हो गया फल भी मिल गया सर ओंकार में भी इसी प्रकार से आप भक्त्यावेश ब्रह्म भाव में रहकर ध्याय के द्वारा वो ध्यान कर लेने पर तत्प्रसिद्धि अवगम्यत निश्चित रूप से वह स्वरूपानुभूति होगी ही इसमें कोई संशय नहीं है कहते क्यों नहीं हमको तो संशय हो रहा है अरे भाई शास्त्र प्रामाण्य शास्त्रों के प्रमाण से कह रहा हूँ इसमें संशय करने से तुमने घर का घाट के हो जाओगे है ना इसमें संशय नहीं हो सकता है क्योंकि शास्त्र है ही उन तत्वों को बोध कराने के लिए जिन तत्वों को हम प्रत्यक्ष अनुमान आदि से ज्ञान नहीं कर सकते कुमार भट्ट की उद्घोषणा सर्वोत्कृष्ट है प्रत्यक्ष ये तो पायो न बुद्धते एनम विदंती वेदेन तस्मात वेद वेदता तो इसलिए कहते कि देखो शास्त्र प्रामाण्य तथा अपरंच ब्रह्म ठीक इसी प्रकार से इसी ओंकार में ध्यान करने में थोड़ा फर्क कर दिया आपने तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तस्मात परंच अपरंच ब्रह्म यदोकार उपचर्य थे इसलिए औपचारिक प्रयोग है ये जो कहा जा रहा है कि ओम क्या है पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है ये जो कहा गया ये भी औपचारिक कथन ही हो सकता है क्योंकि ओम तो प्रतीक ही बन सकता है तस्मात एवं विद्वान एक नैव आयतन आलम्बन यहाँ पर पाठ में कुछ कमी है अशुद्धि है एक तेन नीचे देखो दिया है पदद्वयम प्रमाण आनंद गिरी इत्यनंतरम आयतन आलम्बन पदद्वयम प्रमाण तो गलित द्रष्टव्यम प्रमाण से भाष्यस्थ ये दो पद गायब हो चुका है लेखक का प्रमाण एक भाष्यकार ने लिखे फिर वो उन्होंने बताया छेड़े उन्होंने लिखे हैं और वो लिखते लिखते अब परंपरा पहले जमा प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं तो उसने लिखा उसने उसने गुरु की चले को लिखवाया लिखते लिखते कहीं ना कहीं ऐसे भूल हो गया दो पतों की उसने छोड़ दिया लिखन आज छपरे लगा तो जो मिल रहा तो छाप दिया गया लेकिन आनंद के स्पष्ट करते हैं स्थल पर भाई आयतन और आलम ने दो शब्द वहां पर और होना चाहिए तो नहीं तो मूलस्थ आयतन की व्याख्या ही नहीं है आयतन शब्द ही नहीं लिया तो भाषा अपूर्ण हो जाएगा क्योंकि भाषा का नियम क्या है प्रत्येक पद की व्याख्या होनी चाहिए और उस व्याख्या करने के स्व वाक्य को प्रयोग करेंगे जो वो स्व वाक्य की वाक्य की भी व्याख्या हो उसका नाम भाष्य होता है ये तो उसको तो व्याख्यान किया ही प्रत्येक पद का अर्थ बताना है और उसे वाक्यार्थ निचोड़ भी बताना है और निचोड़ के और व्याख्या करते हैं अपनी तरफ से जो शब्द प्रयोग करेंगे विशेष वाक्य विशेष प्रयोग करते हैं उसकी भी पुनर्व्याख्या करके विस्तार से समझाने का नाम ही भाष्य होता है इसलिए मूल में जब आयतनी में शब्द है और उसको इन्होंने यदि प्रयोग किया नहीं भाषा फिर तो भाषा अपूर्ण हो जाएगा इसलिए ये पद द्वय आवश्यक है मूल में होना ही चाहिए इसके बिना ग्रंथ में दोष हो जाएगा अतः विद्वान एते नहीं हुआ आयतन मूल में था एते नहीं आयतन उतना तो पूरे ले लेना और आयतन का अर्थ भाष्कर की व्याख्या क्या है आलम्बन वो ये दो शब्द गायब हो चुका है मूलस्तिक पद और भाष्कर की व्याख्या रूपा एक पद इस दो पद बोल हो गया है मूल में से ऐसे समझो यह तस्माद विद्वान एक आयतन आलम्बन आत्म प्राप्ति साधन आलम्बन नहीं होगा मतलब आत्मा की प्राप्ति का साधन के द्वारा ही ओंकार विध्यान ओंकार का विध्यान करने के माध्यम से एक तरम परम अपरम वेती पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा अथवा अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा ब्रह्म अनुगछति पर ब्रह्म को या अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है निर्दिष्ट भी आलम्बन ओंकार ब्रह्मणा इसमें कोई संशय नहीं है कि ब्रह्म का यह आलम्बन जो ओंकार है तो सर्वोत्कृष्ट है अंतिक बाढ़ और नेद साधो अंतिक बाढ़ और नेद साधो निर्दिष्ठा यह अत्यधिक समीपवर्त इससे और निकटतम कोई चीज नहीं हो सकता जो आत्मा का प्रतीक बन जाए इससे अधिक और कोई चीज नहीं है इस संसार में जो आत्मा का प्रतीक हो सके निकटतम समीपवर्ती तरवर्ती शब्द चीज है ये क्यों कि सृष्टि का आरंभ ही हुआ ओंकार ओंकार शब्द गावेदो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यात तस्मान मंगलिका उभाविधि कहा ना मनुस्मृतिकार ओंकार और अथ यही दो शब्द सर्वोत्तम सबसे पहले उत्तम ओंकार अथ शब्द इसे कहीं भी कोई विचित आरम्भ कर अथ बोल देते हैं ताकि मंगलवाचक है तस्मात मांगलिकऊ उभव इति मांगलिका उभाव इति तो यह मांगलिको अत्यंत मंगलमय शब्द है ये क्योंकि साक्षात ब्रह्म का ही बोधक है इस का निर्ष्ठम ही आलम्बन ओंकार इस ब्रह्म का जो है निरिष्ठ मैंने समीप तरवर्ती आलम्बन है प्रतीक है ओंकार इसमें कोई संशय नहीं है जो इसको पकड़ेगा वो जल्दी वहां पहुंच जाएगा जैसे हो गया ना आपके पास कोई परिचय मंत्री का ही सीधा है समस्या का हल हो गया और मंत्री से प्रधान मुख्यमंत्री से मिला ही देगा झंझट क्या है और ये आपके कोई चपरासी से संबंध है वो चपरासी बेचारा बाबू के पास ले जाएगा बाबू बड़ा बाबू के पास ले जाएगा बड़ा बाबू junior secretary junior secretary secretary के पास है सेक्रेटरी मंत्री के पास है मंत्री वो तो लाइन लंबी है और पहुंचते पहुंचते बुढ़ा जाएंगे काम तो होएगा नहीं है ना ये व्यवहार में भी देखने को मिलता है इसी प्रकार यहाँ समीपवर्ती क्यों का उसके लिए मैं बता रहा हूँ दृष्टांत लक्ष्य प्राप्ति में आपको जितने नजदीक से नजदीक साधन आपको मिल जाए उस लक्ष्य का नजदीकतम वस्तु मिल जाए उसको ग्रहण करेंगे आपका काम झटपट हो जाता है और बहुत दूर के मार्ग से पकड़ के आओगे तो होगा कोई गारंटी भी नहीं हो सकता रास्ते में ही गड़बड़ा जाए आपको आश्वासन मिलते रहेगी नहीं नहीं आपका काम हो रहा है वो चपरासी बोलते रहेगा आपका काम होते रहेगा और होते ही रह जाएगा फायर वहीं रह जाएगी है ना आप उसको कहां तक खुश करो उसको खुश करो बाबू को खुश सबको खुश करते रहना पड़ेगा ना धीरे धीरे फायर खिसकता ही जाएगा काम होते होते पता नहीं कब होएगा इधर से यहाँ पर भी हम लगे रहते हैं छोटे मोटे पूजा पाठ आठ दुनिया भर झंझट हुए नहीं लगे रहेंगे लगे रहो अब ये करते करते छोटे मोटे देवता प्रसन्न होंगे पहले नहीं पहले तो चपरासी को प्रसन्न किया आपने फिर बाबू को प्रसन्न करोगे वही हाल यहाँ पर ना पहले छोटे मोटे जो क्षेत्रपाल देवता नहीं ये सब <laughs> छोटे मोटे होते हैं इनको खूब करो ग्राम देवता को खुश करो नहीं फिर ब्राह्मण देवता को खुश करो फिर वो बड़े देवता लोग आएंगे इंदिरा जी उनको खुश करना पड़ेगा करते करते ब्रह्मा जी तक जाओ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करोगे वो सबसे बड़े ना मंत्री महोदय अपनी पड़ती वाला तो, तो कार्य किस पर निश्चय नहीं होता है कि सफलता आपको मिलेगी साध्य आपका जो लक्ष्य पूरा होगा कोई निश्चय इसलिए जो लक्ष्य के जितना नजदीक अनेक साधन है वहां तक पहुंचने के लिए तो नजदीकतम साधन में जो रहेगा वह उसको जल्दी ही प्राप्त कर लेगा और जो दूरस्थ है उस साधन को पकड़ता है विप्रकृष्ट साधनों को उसमें कोई निश्चय नहीं और भी कितने समय लग जाए कितने जन्म लग जाए नहीं भी हो सकता है और ये ओंकार का ऐसा साधन है कहते हैं वो देवी देवता पूजा पाठ किसी की जरूरत नहीं है वो बहुत पीछे वाले लोग हैं सीधे ओम को पकड़ लो ओम में भी सीधा मोह को पकड़ लो उसमें भी ओम भी साधन में भी मोह को पकड़ना ऐसे होता है ना भाई बस में भी आप बैठे तो पीछे वाला सीट पे बैठना कौन पसंद करता है, पसंद करेगा नहीं नहीं अगर आपको बीच में दे दो उसे खिड़की के बगल में दे दो पर हवा भी अच्छी आती रहनी चाहिए कोई वहां पर गैस छोड़ दे तो आराम से हम रहे उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है भाई ओम में भी कौन सा आ मात्रा नहीं ऊ मात्रा नहीं मात्रा को वह निर्दिष्ट है इसलिए भाषगार संकेत कर रहे हैं भाई ओम में ओमकार जो है इस ब्रह्म के प्रति साधनों में से निर्दिष्ट मैंने समीपोत्तरवर्ती साधन अत्यंत समीप अधिक समीपवर्ती साधन लेकिन समस्या उलझन में डाल दिया वो चेहरा सोच रहा होगा ये कैसा विचित्र बात है एक ही ओम से परब्रह्म मिलेगा परब्रह्म मिलेगा ये कैसा होगा कहते उसकी शंका को बिना प्रश्न पूछे जवाब देना चालू कर दिया सा यद्येकमात्र तेन संवेदित स्थूर्णम एवं जगत्याम अभिसंपद्य तंगच मनुष्यलोकम अपनयते श्रद्धया संपन्नो महिमान अनुभवती देखो सा यदि एकमात्र विध्यायित प्रथम मात्रा जो एक है जो प्रथम मात्रा जो एक मात्रा है उसको प्रदान कर उसे विशिष्ट होकर के जो ओमकार की उपासना करता है मैंने ओ की उच्चारण ज्यादा कर रहा है ऊ और माँ बिल्कुल ना मात्र के ले रहा है नहीं ये लेगा तो खा जाएगा अंदर गुल तब तब जो है व्यक्ति को क्या होता है कह दे जगत ही मिलने वाला है यही जन्म लेगा यदि एकमात्र मान एकमात्र विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है एकमात्र में प्रथम प्रधान प्रथम एक शब्द या प्राथम्य अर्थ में प्रथम मात्रा जो अमात्रा का ध्यान करने लगता है चिंतन करता है तो स तेन हसी आकार पे मात्रा के द्वारा संवेदिता सन बोध प्राप्त करके पूर्णमेव शीघ्र ही जगत अभी संबोधित है जगत मैंने लोक है इस पृथ्वीलोक में पुनर्जन्म हो जाएगा उसका नहीं लोक में जन्म होगा घटिया जन्म नहीं होगा अच्छा जन्म मिलेगा क्यों तम उस साधकों को ऋष ऋग्वेद अभिमानी देवता लोग ऋग्वेद के अभिमानी जो देवता है वे लोग क्या करेंगे मनुष्य लोकम अपने अंदर इस मनुष्य लोक में ही ले जाते पृथ्वी में भी कुत्ते का लोग को नहीं गधे का लोक में नहीं जाएगा वो मनुष्य लोक में मैंने मनुष्य योनि में आएगा और मनुष्य योनि आराम करके भी क्या करेगा तत्र स तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्न सन महिमान अनुभव दे तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा सत्य संपन्न होकर के अपनी महिमा का अनुभव करता है साहित्य ओंकार से सकल मात्रा अविभाग क्यों ऐसा जो मोक्ष है साधक है चाहता तो सभी मोक्ष ही इसलिए सबको मोक्ष कह सकते हो लेकिन जानकारी नहीं क्या करें साधन के बारे में व्यक्ति को सम्यक ज्ञान ही नहीं है जितना उतने से काम चला रहा है ऐसा व्यक्तियों में से ये तो सकल मात्रा के अविभाग ज्ञान टिप्पण कार्य स्पष्ट कहते हैं कि अकार उकार मकार तीसरो मात्रा तासाम अग्नि वायु सूर्या ऋषि अग्नि वायु सूर्य ये ऋषि है इनके और ब्रह्माष्टमेश्वरा देवता और अधिदेवत में भूर्व स्व स्थानी अध्यात्म स्थान क्या है जागर स्वरूप सुशक्ति अवस्थाएं ऋग्वेद सामान्य वेदा ऋग्वेद इसलिए है ना तम ऋचो इसलिए कहा ऋग्वेद इसको ले जाते हैं ऋग्वेद के अभिमानी देवता और वो माता वाले को यजुर्वेद के अभिमानी देवता मात्रा वाले को सांवेद के अभिमानी देवता आहो आहू कहा है ना उपनिषद में इसमें गाते हुए ब्रह्मज्ञानी को ले जाएंगे ब्रह्मलोक की ओर और सामवेद अभिमानी देवता लोग मात्रा वाला यह सत्य मुक्ति नहीं हुई कर्म मुक्ति उसको निश्चय होगा तो इसलिए यहां पर गड़े देखो जो और सामान्य वेदा यदि अंतर्गत शाखांतर विद्यमान स्पष्ट है सकल मात्रा अविभाग वर्ण इंदिगे चित्र विष्णुति अत्र सौमदेवत्य वक्षमाण चतुर्थ मंत्र भाष्य प्रतिकूल योगादि यहाँ पर आपने कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा इन वहां पर क्या कहेंगे भाष्यकार सोम देवदा वो मात्र का बेमानी सोम देवता कहेंगे गड़बड़ा जाएगा सोम तो विष्णु है नहीं ये कोई ऐसा शंका करे तो लगता है भाषकार का परस्पर विरोध हो जाएगा कहीं शाखांतर में विष्णु कहा गया और आप सोमे देवता का कहते तो नहीं विरोध नहीं है भात इव भात इसलिए ऐसा लगता है आपको समाधान क्या है नक्षताम अहम शशि वही विष्णु क्या है नक्षत्रों में शशि है मैंने सोम देवता हो ही नहीं हो गया इसलिए विष्णु सोम देवता है ऐसे कारण में कोई विरोध नहीं है विष्णु कहो सोम देवता कहो एक ही चीज हो गया क्योंकि वही विष्णु नक्षत्रों में शशि के रूप में विराजमान होकर सोम देवता संज्ञा को प्राप्त किया हुआ है इस तरह समन्वय कर लेना चाहे पौर्वापर्य न तथा भी ओंकार विद्या प्रभाव यद्यपि वो सकल विभागों का ज्ञाता नहीं है फिर भी ओंकार के ध्यान का करने के प्रभाव से विशिष्टा में वो में गच्छते वह अधोगति या लोकांतर गति को प्राप्त करेगा नहीं उसको विशिष्ट गति मिलेगी विशिष्ट गति क्या मिलेगी एक देश ज्ञान वैगुण्यतया एक देश ज्ञान रूपी विगुणता के कारण से ओंकार शरण कर्म ज्ञानो भय भ्रष्ट वो ओंकार का शरण को ग्रहण किया लेकिन कर और उपासना दोनों से विभ्रष्ट है न कर्म ही कर रहा है ढंग के न उपासना ही कर रहा है क्योंकि ओंकार का ध्यान में लग गया हो ओम का ध्यान में लग गया उधर नित्य कर्म भी छोड़ दिया है और नित्य जो उपासना आदि करनी चाहिए वो भी करना बंद कर दिया उन दोनों जो उभय हुए भ्रष्ट हो गया न दुर्गति गीता के आधार पर फिर भी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करता क्यों ओंकार का शरण में है इसीलिए वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करता किंतरी फिर होता क्या है उसको यद्यपि एवं ओंकार एकमात्र एक मात्र विभाग केवल अविध्यायित यद्यपि इस प्रकार से ओम एक मात्रा का ही विभागज्ञ होकर के ओंकार का जो है केवल उपासना कर रहा है ध्यान कर रहा है फिर भी वह एकमात्र सदाध्यायित एक मात्रा को इसका ज्ञान ध्यान कर रहा है तथापि यदि भी ऐसा है फिर भी सा तेन वो एक मात्रा विष्ट मात्रा विशिष्ट ओंकार भी ध्यान तेन मैंने उस एक मात्रा से विशिष्ट ओंकार का ध्यान के द्वारा संवेदित सन मने संबोधित सन उसी से बोधित होकर ज्ञान प्राप्त करके उस उस मात्रा संबंधी ज्ञान को प्राप्त पूर्णम क्षिप्रम एवं जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपदित जगत्याम का तृतीयम क्यों आगे क्योंकि मनुष्य लोकम का ही है किम तत् मनुष्य लोकम इस पृथ्वी में भी मनुष्य योनि ही प्राप्त करता है तो जगत्याम का अर्थ कर दिए थे मनुष्य लोकम और मनुष्य लोक में भी अनेकों योनियों में जन्म प्राप्त हो सकता है अनेकानी जन्मानि जगत्याम संभव अनेक योनियों में अनेक प्रकार का जन्म इस पृथ्वीलोक में भी मनुष्य लोक में भी संभव है लेकिन उस साधक को ऋग्वेद के अभिमानी देवता लोग क्या करेंगे तत्रतम साधकम जगत्याम मान मनुष्य लोकम एवं उपनयन इस मनुष्य लोक में भी मनुष्य जन्म को ही प्राप्त करते उपनिगमयंती कौन ऋचार ग्रेदरोपाही ओंकार से प्रथम मात्र अभिविध्याता तेना क्योंकि जो है ऋग्वेद रूपा जो ओंकार की प्रथम एक मात्रा है उसी का भी ध्यान करने वाला होने से सत्र मनुष्य जन्मनी द्विजाग्रह सन मनुष्य जन्म में भी कौन सा ब्राह्मण के घर में ही होगा द्विजाग्रह सन द्विज मैंने तीन हो गया ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य द्विजाग्रह हो गया ब्राह्मण द्विजाग्रह सन तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया च संपन्नो महिमान विभूति अनुभवती ब्रह्मचर्य से तप से अश्रद्धा इत्यादि साधनों से संपन्न होकर अपना उसी पूर्व जन्म जन्मांतर कृत पुण्य का भी वैभव को प्राप्त करता है न वीत श्रद्धो इसकी श्रद्धा घटती नहीं है न यथेष्ट चेष्ट ब्रह्मचारी रहेगा यथेष्ट चेष्ट नहीं होगा योग भ्रष्ट कदाचित न दुर्गतम गच्छते और योग भ्रष्ट है फिर भी वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं कर सकता ये स्पष्ट कह दिया अथ मात्रेण मन से संपद्यते सोऽन्तरिक्षम् निजुर्भिर्पुनीयत सोमलोकम् स सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते अथ द्विमात्रेण से संबद्ध है और द्वितीय मात्रा का से विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है जो वहां मन के साथ एकीभूत हो जाता है और सो वह अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक में अंतरिक्ष रूपी स्थल विशेष विद्यमान देश विशेष विद्यमान सोमलोक में ही उसको ले जाया जाए सोमलोक की ओर ले जाते और वह वहां उस सोमलोक में अपने विभूति का अनुभव करके पुण्य का भोग तो प्राप्त करके दे पुनः मनुष्य श्लोक में लौट लौट आता है या हिंदी के व्याख्या का पूरा गलत गलत लिख दिए पूरा ही गलत लिखा हुआ है हिंदी वाले द्वितीय द्विमात्रण करके दो मात्राएं मैंने और वो दो ऐसा लो ऐसे हिंदी वाले लिख रहे नीचे भी वही नीचे की हिंदी वाले यदि वह आकार और उकार इन दो मात्राओं के विभाग को जानने वाला ऐसे व्याख्या कर रहे तो गलत है क्योंकि देखिए द्विमात्र विशिष्टम आनंद गिरी को देखिए स्पष्ट है द्वितीय मात्रत्व विशिष्टम ओंकार अर्थात सर्गतम उकारम स्पष्ट लिखे आनंद गिरी पता नहीं हिंदी वाले कैसे गलत कर गए अच्छा है हाँ द्वितीय मातृत्व वो सब अपने आप बना लेना बता दिए इसलिए तदम उकार न तो मात्र द्वयम देखो कह है न तो मात्रा द्वयम आकार से पूर्व में उक्त अतय द्वितीय मात्रा रूपम वक्षते द्विमात्रण का अर्थ द्वितीय मात्रेण ऐसा अर्थ अपने आप लेना समझना चाहिए बिल्कुल आनंद बिल्कुल साफ लिख पता नहीं फिर भी कैसे हिंदी वाले विद्यानंद जी महाराज हैं जो दोनों ही जगह गलत कर बैठे हाँ? भाष्यकार आगे क्या करेंगे त्रिमात्रण की व्याख्या करेंगे आवू सहित म किंचित किंचित और म प्रधान वहां पर तृतीय विभक्ति को का भी विचार भी करेंगे उस बार स्पष्ट हो जाता है भाष्य का भी तो सम्मत नहीं है चलो हानविकार की अपनी मर्जी उन्होंने जो किया आप कह सकते हैं भाई नहीं हमें अनुकूल नहीं है वो टीका का टीकाकार का खंडन भी हो सकते हैं लेकिन भाष्यकार का तो खंडन नहीं कर सकते आप भाष्य विरुद्ध हो जाएगा ये जो अर्थ ले रहे हैं तो स्पष्ट है भाष्य में भी द्वितीय मात्रा रूपम ही कहेंगे भाष्यकार में भी तो देखो अथ पुनर्यदि द्विमात्रा विभाग द्विमात्रेण विशिष्ट ओंकार विद्या द्विमात्र के द्वारा विशिष्ट ओंकार का विज्ञान करता है स्वप्नात्म के मनसी मननीय यजुर्मय स्वप्नात्म कौन है मन मननीय उसी तत्व में लीन होगा जो कि यजुर्मय है और सोम दैवत्य संपदित है और सोम देवता है उसको संपन्न हो जाएगा प्राप्त कर लेगा एकाग्रतया आत्मभाव गति मनुष्य के साथ एकाग्रता हो करके उसी को अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है तारात्म भाव को प्राप्त करता है सैवम संपन्न अमृत हो वह एतार्श साधना से संपन्न व्यक्ति मरने के पश्चात अंतरिक्षम अंतरिक्ष आधार जिसका ऐसा अंतरिक्ष आधार द्वितीय मात्रा रूपम देगी द्वितीय मात्रा रूप ही रहे यजुर्वीर आहु दोनों मात्र रूप नहीं है ये जो तो यदि आहु दोनों अपेक्षित होता तो ये यही कहते द्वितीय मात्रा द्वितीय द्विमात्र रूप ऋग यजुर्वीर ऐसा कहना चाहिए था ऋग नहीं ले रहे हैं कहते द्वितीय मात्रा रूप रेव जुर्वी भाष्य से भी स्पष्ट है यहाँ द्वितीय ऊ मात्र को ही लेना है आपको ग्रहण नहीं कर सकते आप है सोमलोकम सौम्यम जन्म प्रापयंदी अर्थात सोमलोक के योग्य और सोम के सदृश सोम इति सौम्यम शाकादि भी है प्रत्यय प्रत्याध्ययन होकर के सौम्य बना तारस सोम सदृश सोम देवता सदृश ही सोम लोक में उसको जन्म होगा हम यजुवंशी तीर्थ कौन कराएगा प्रापयंती उनको यजुर वेद के अभिमानी देवता लोग प्राप्त कराएंगे सात विभूति मनो वो वह वहां पर विभूति का अनुभव कर गए मनुष्य लोकम प्रति पुनरावृत है उस सोमलोक में अपने उस पुण्य के वैभव को प्राप्त करने के पश्चात वापस यहाँ लौटाता है यहाँ पर ओपात भी कह रहे थे आनंद गिरकर स्वयं लिख रहे हैं इसी मंत्र के अंतिम की हिसाब दीपिकायाम दो जो दीपिका टीका है उन्होंने क्या लिखा है वो भी आनंद गिरकर बता रहे मात्रा द्वयस्य मिलित उपासन इसको ले लिया है हिंदी वालों ने मात्रा द्वयस्य मिलित उपासन मन संपत्ति मनसा एकाग्रता चिंतन न व्याख्यातम लेकिन उसको हम यहाँ व्याख्या नहीं करें जो दीपिका में कहा गया यदि तद न व्याख्यातम वो व्याख्या हम नहीं मानते क्यों कि ये भाष्य गुरु के भाष्यकार स्पष्ट ही द्वितीय माता रूप ये जरूर ऐसे स्पष्ट कहा है द्वितीय मातृत्व ने भी कहा दिया है वह भाष्य वृद्ध होने से वह व्याख्या हम स्वीकार नहीं करते इस पर चार नंबर टिप्पणकार भी कहते मात्र समझे थी तो दीपिका मतम युक्तम यथा त्रिमात्रण मात्रा त्रयमेव गृहती अवधेय टिप्पणकार समर्थन कर रहे दीपिका की और आनंद गिर भाषा के विरुद्ध चल रहे इसे कह रहे देखिए क्यों क्योंकि त्रिमात्र में वो कह रहे तीनों मात्र ले रहे भाष्यकार स्वयं ही त्रिमात्रेण के द्वारा वह तीनों मात्राओं को लेना इष्ट कर रहे हैं लेकिन दो मात्रा किंचित किंचित रहते हुए अंतिम मात्र प्रधान होगा ये बात कहेंगे लेकिन वह भाष्य के सब विचार करेंगे ना तो और स्पष्ट होगा कि टिप्पणी भी गलत है दीपिका गलत है सब गलत हो जाए कि वहां पर क्यों ऐसे कर रहे हैं वो अर्थ अलग ही है वो कारण अलग है भाष्यकार वहां स्पष्ट करेंगे उससे पहले टिप्पण देख लो ऐसे ही यदवा यह पुनः अथवा ये भी पक्ष ले रहे हैं एकम त्रिमात्र वहां पर जो है ना एकम त्रिमात्रेण ऐसा आएगा अगला मंत्र में एकम त्रिमात्रेण ओम इतना वह ऐसे ही आएगा और पहले वाले में क्या आया यदि द्विमात्रेण मनसी ऐसा आया हाँ यदि एक मात्र विद्या है तो ऐसे था ना और वहाँ एकत्र मनवेती पहले आया सब मंत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा पड़े तभी समझ में आएगी ये बात इसलिए कहते देखो तृतीय मात्रायाम अवान्तर विवक्षाम उपगम्य तृतीय मात्रा में जो अवान्तर तत्व है उसकी रक्षा करते हुए तन्मात्रावलमश्च सूर्यम संपद्यापी निवर्तत है तीसरो मात्रा मृत्यु हो क्योंकि जो है उसको आलम्बन रूप में अनुष्ठान करेगा वो सूर्य लोक को प्राप्त करके भी लौट जाएगा तीसरा मात्रा मृत्युमत्या क्योंकि जो तीन मात्राएं हैं वो मृत्युमय होती हैं तीनों के तीनों तथा चदी तीसरो मात्रा मृत्युमती की वक्षमाणम आंजस्य आंजस्य न आंजीयन हो गया आंजस्य इत्यलम ऐसे मानने पर वक्षमान जो है ना व्याख्या भी तीसरो मात्रा मृत्यु उसका जो व्याख्या है उसके साथ सामंजस्य बैठ जाता है तीसरे मात्रा में भी अवान्तर विकल्प कर दिया गया तीसरे मात्रा में भी क्या है अवान्तर विकल्पों को मान करके चलना है क्योंकि तीनों मात्राएं मृत्युमय कह दिया अब जो तीनों को मृत्युमय कह रहे हैं और इधर क्या है तीसरे मात्र से जो आएगा वो लौटेगा नहीं इसलिए यहां यो एकम त्रिमात्र जो कह रहे हैं इसका अर्थ कुछ विलक्षण ही लेना होगा और पर विचार करके देखते हैं अगर करें तीनों ही मात्राएं मृत्यु में आगे कहेंगे जब तीनों मात्र ही लौट के आने वाला है और यहाँ क्यों करे सूर्य समय था पादर इत्यादि लोकम से तस्मा जीवनाथ परापरम पुष्मिक्षते वहाँ जो है परात पर पुरुष को प्राप्त करेगा अर्थात ब्रह्मलोक चला जाएगा बोल दिया वहां से लौटने का सवाल नहीं तो मृत्युमति कैसे हुआ वो या नहीं वहां पर विचार करने से रखता है यहाँ पर जो त्रिमात्रण का तात्पर्य समझना होगा अच्छी तरह से वह तात्पर्य तो यही है जो केवल त्रिमात्र को प्रदान कर रहा है ऐसा नहीं ये तृतीय मात्रा को ले रहा है लेकिन तृतीय मात्रा में भी म का उच्चारण करता है या म के उच्चारण के साथ उसके नाद में जाता है या नहीं जाता है अलग अलग बात इसलिए तीसरे मात्रा में भी नाद प्रदान होना चाहिए तभी मृत्युमत्य नहीं होएगा जो नाद बिंदु और कला ये तीन जो अवस्थाएं होती हैं ये तीनों इन लोगों से बाहर की चीज है ना वैखरी मध्यमा परा पश्चंती ये जो चार है वो निम्न कोटि के लोगों का ही है यह लोग अंतरिक्ष लोक जो सोम लोग का है कि नहीं और ये जो पुनरागमन के लोगों का ये प्रतीक है वही खरी मध्यमा परा और पश्चंती और परा इससे ऊपर जो बात है नाद बिंदु और कला ये चार कोटे से ऊपर वो ऊपर की उन लोगों की गणना है जिन लोगों से वापस लौटना नहीं होता इसे जब नाद पर्यंत जो उपासना जो करे उसके लिए त्रिमात्र नकार तीसरा मात्र से मतलब है मां में भी जो नाद केवल मां को लेके चलेगा वो भी लौटेगा वो भी लौट जाएगा इसलिए यहाँ पर कार्य रहे भाष्य अगले मंत्र का भाष्य पढ़ी उसके बाद विचार करेंगे तो पता चलेगा यह पुनरेतंत्र त्रिमात्रेण ओम इतने नक्षरेण परम पुरुषम विद्याद सत्यसी सूर्य संपन्न यथा पादो धरस्पृशा विनिमुच्छद एवं हवै सब पापना विनिर्मुक्त सहसा विरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः